और ये दूसरों को भी उस कुरान से रोकते हैं और खुद भी उससे दूर रहते हैं और इस तरह वो अपनी जानों के सिवा किसी और को हलाकत में नहीं डाल रहे लेकिन उनको एहसास नहीं है